सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः आनंद आत्मा की भूख है आत्मा की मांग है आत्मा का अभीष्ट है आनंद के बिना जीवन नीरस है अपूर्ण है निरर्थक है राम मिलन से परमानंद है राम मिलन में नित्यानंद है राम मिलन में अखंडानंद है महर्षि अरविंद ने कहा the highest goal of human life is constant communion with the divine आत्मा परमात्मा का नित्य तत्व अखंड मिलन जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि राम मिलन मानव जीवन का चरम लक्ष्य है राम मिलन हृदय की विधा से मुक्ति है इसलिए तेरे पास आने को जी चाहता है तेरे पास आने को जी चाहता है हवा में दिल मिटाने को जी चाहता है गम दिल मिटाने को जी चाहता है तेरे पास आने को जी चाहता है तेरे पास आने को जी चाहता है की तारे नफस पर इलाही इसी साज तारे नफस पर इलाही इसी तारे नफस पर इलाही इसी तारे नफस पर इलाही इसी साज तारे नफस पर इलाही इसी साजितारे नफस पर इलाही तेरा गीत गाने को जी चाहता है तेरा गीत गाने को जी चाहता है जी चाहता है जी चाहता है जी चाहता है जी चाहता है तेरे पास आने को जी चाहता है तेरे बस आने को जी चाहता है देखता हूँ तेरा नक्श पास गह देखता हूँ तेरा नक्श पास जिस गह देखता हूँ तेरा नक्श पास जिस गह देखता हूँ तेरा नक्श पास जिस देखता हूँ तेरा नक्श पास जिस जगह देखता हूँ तेरा लक्ष्य पा जिस जगह है देखता हूँ वही सिर झुकाने को जी चाहता है वही सिर झुकाने को जी चाहता है जी चाहता है जी चाहता है जी चाहता है जी चाहता है तेरे पास आने को जी चाहता है तेरे पास आने को जी चाहता है गम दिल मिटाने को जी चाहता है गम दिल मिटाने को जी चाहता है तेरे पास आने को जी चाहता है तेरे पास आने को जी चाहता है तेरे पास आने को जी चाहता है तो जिज्ञासा हुई राम कहा मिलेंगे कहा जाकर मिलूं क्यों झूम जाऊं ये तो कह दूं अपनी सारी दास्ताओं से तो फिर हर जिस न पूछेगा मिलूं जाकर कहाँ से तो फिर हर जिस न पूछेगा मिलूं जाकर कहाँ उनसे उन्हें ढूंढू उन्हें देखू अपने दिल में सुना तो है ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्टानि इंद्रिया प्रतिष्ठा कर्षति और ईश्वर सर्वभूता हृदेशे अर्जुन तिष्ठति परंतु मेरे दिल में दिल का प्यारा है मगर मिलता नहीं चश्म में उस का नजारा है मगर मिलता नहीं ढूंढता फिरता हूँ उसको दरबदर बकू हर जगह वो आशकारा है मगर मिलता नहीं मेरे दिल में वो ही खेले और खिलाए मुझको वो घर में दुल्हन का दुल्हारा है मगर मिलता नहीं तो दूसरी जिज्ञासा हुई कैसे मिलेंगे मुझे राम से कोई मिला दो मुझे राम से कोई मिला दो बिन लाठी निकला अंधा राह से कोई लगा दे मुझे राम से कोई मिला दे कोई कहे वो बसे अवध में कोई कहे वृंदावन में कोई कहे तीर्थ मंदिर में कोई कहे मिलते बन में देख सकू मैं अपने मन में ऐसी ज्योति जगा दे मुझे राम से कोई मिला दे मुझे राम से कोई मिला दे मुझे राम से कोई मिला दे महायोगी अरविंद ने रहस्य उद्घाटन किया कि दो आवरण हैं a veil behind the heart a lid over the mind divide us from the divine हृदय के पीछे आसक्ति का आवरण और सिर के ऊपर अहंकार का भूत ये तो पर्दे हैं जो राम से नहीं मिलने देते तो भर देने तेरे गीत का कहाँ बना दिया भर देने तेरे गीत का कहाँ बना दिया भर देने तेरे गीत का कहाँ बना दिया अरे कहाँ तो बना दिया कहाँ बना दिया अरे कहाँ तो बना दिया सबर में खिंच गई तस्वीर सबर में दिल के वास्ते सामा बना दिया तस्वीर दिल के वास्ते सामा बना दिया हर सामा बना दिया पर्दे में तेरे दर्शन का विलासी बना दिया महात्मा कबीर कह गए घूंघट का पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे गोस्वामी तुलसीदास ने उपाय बताए कि अहंकार मिटाने के लिए ये श्रद्धा प्रबल करो अस अभिमान जाए जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे और आसक्ति मिटाने के लिए श्री राम से पहले गिनवाया कि आसक्ति दस में होती है और उसे मिटाने के उपाय भी कहला दिए जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद नहीं बाजी बर डोरी परंतु गोस्वामी जी ने यह भी जता दिया यह गुण साधन ते नहीं होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई परंतु राम कृपा तो हेतु की होती है राम कृपा साधना साध्य नहीं है वो तो अनुग्रह साध्य है तो राम कृपा के लिए प्रार्थना या आकांक्षा ही कर सकते हैं इसलिए अगुमराम कृपा दिन रात आल पर अगर परंतु राम की अहित्य की कृपा कब होगी इसकी कोई नियम नहीं है तो क्या बस राम कृपा मांगता रहूं और प्रतीक्षा करता रहूं क्या आवरण हटाने की कोई साधना भी है हाँ है महर्षि अरविंद ने कहा love and devotion rend the veil In the quietude of the mind, the lid thins and vanishes आवरण हटाने के लिए साधना है शरणागति और प्रेम खाकसारी और उल्फत मुसाफिरी के अमल अर्थात शरणागति साधना है ध्यान प्रार्थना नाम का जप और कीर्तन इस साधना से चित्त शुद्ध होकर हृदय दर्पण में उल्फत अर्थात राम प्रेम का प्रकाश उदय होगा और जब राम प्रेम रग रग में बस जाएगा तो आवरण रूपी अंधकार की अंतर्व्यथा मिट जाएगी और आनंद की अनुभूति होगी जलवा आया हो जा शरणागति की साधना से राम प्रेम होगा जब राम प्रेम उत्कट होगा नस नष्ट में बस जाएगा तो राम मिलन की अनुभूति होगी हृदय में राम का साक्षात्कार होगा इससे परमानंद प्राप्त होगा हृदय राम का कुंज बन जाएगा इस घर को किसने राज गुलसा बना दिया अब दिल के इश्तिराब में आने लगा मजा अब दिल के इश्तिराब में आने लगा मजा दर्द को बना दिया ऐ दर्द को धर्मा बना दिया धर्मा बना दिया धर्मा बना दिया धर्मा बना दिया ये है राम प्रेम की महिमा जो दर्द को धर्मा बना देता है अर्थात व्यथा को आनंद बना देता है तब क्या होगा सबको मैं भूल गया तुझसे मोह का नाम है समाधि जब ध्याता अपने आप तक को भूल जाता है और रह जाता है केवल ध्येय और ध्यान तब हृदय में बसा रहता है केवल राम नाम और राम नामी यही तो है राम मिलन आत्मा परमात्मा का नित्य योग जिससे साधक को अखंड आनंद नित्यानंद परमानंद की प्राप्ति होगी जो मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है जब तू और तेरा नाम ही याद रहता है जब राम राम नाम की अखंड स्मृति होती है तो ऐसी तल्लीनता छा जाती है कि रहा करती है उनकी याद में एक तारी रहा करती है उनकी याद में एक तारी कहा प्रेमी भक्त अपने हृदय में ही अपने प्रेमास्पद राम से अपनी सब बातें कहता रहता है और प्रेरणाएं लेता रहता है अखंड राम सुमरन से सर्वत्र राम दर्शन होता है तेरी सिवा देखा न कुछ तेरे सिवा पाया न कुछ तेरे सिवा देखा तुझे हर शय में देखा और से जुदा देखा तुझे हर शय में देखा और हर से जुदा Hallelujah. भरोसा क्यों साधक को सदा सर्वदा फजल खुदा राम कृपा का अनुभव होता है और समस्त सृष्टि में राम की लीला का आनंद लेता है क्या जल शाने कुदरत है सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह क्या जल शाने कुदरत है सुबह अल्लाह सुभान अल्ला हर शय में निराली सनयत है सुभान सुभान क्या सुहानल् सुभानल्ला कुदरत है कमर दिखे तो कोई ये वर्ग समर क्या कुदरत है क्या हिकमत है क्या कुदरत है क्या हिकमत है सुभान अल्लाह हो उसका क्या दिल कश हर एक सूरत है क्या कश हर एक सूरत है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या जगवे शान कुदरत है समझ में कभी हैरत में हमेशा खलक रही हैरत में हमेशा खलक रही क्या तेरा राज हकीकत है क्या तेरा राज हकीकत है सुभान कमर को जिया बख्शी है शमसो कमर को जिया क्या तेरी शान रहमत है क्या तेरी शान रहमत है सुबह अल्लाह सुभान अल्लाह क्या जलवे शान कुदरत है भी बशकल कसरत है वैदत ही बशकल कसरत है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या जलवे शान कुदरत है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभानल्ला सुभानल्ला हर शय में निराली सनयत है सुभानल्ला सुभानल्ला सुभानल्ला सुभानल्ला क्या जलवे शान कुदरत है जब गौर से देखा रंग जहां हैराद खुला ये राज वेदत वैदत ही बशकले कसरत है चिंतन पूर्वक दृश्य जगत को देखने से इस परम सत्य का साक्षात्कार हुआ एकम ब्रह्म विप्र बहुधा वदंती इसने साधक को आत्मभोर कर दिया राम से वियोग था ही नहीं वियोग का भी आभास राम की लीला है कौतुक है जिसकी अंतर्व्यथा है और उससे शरणागति से आनंद प्राप्ति की एकमात्र अभिलाषा उत्कंठा रहती है opportunity सिद्धि के लिए साधना पथ का बोध हुआ और उसके अंतर में चरण लक्ष्य पर पहुंचने और परमानंद की प्राप्ति की शुभ लालसा जगी परंतु तभी ध्वनि हुई संत धुनी ने उसे चिंतन में प्रेरित किया उसने स्वीकार किया सच मैं तो दिन रात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति करने में अथक भागदौड़ करता हूं मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए अरे क्या नहीं चाहिए मैं साधना कैसे करूंगा चिंतन में स्पष्ट हुआ कि सब कुछ अनित्य है सुख सुविधाएं आती हैं चली जाती हैं अधिकार कुछ दिन ही रहकर निकल जाते मैंने तो अपना सारा जीवन सांसारिक कामनाओं में व्यर्थ ही खो दिया नित्य एकत्व नित्य आनंद के लिए कुछ भी साधना नहीं की परंतु फिर चिंता हुई कैसे होगा मेरी और भी समस्याएं तो है इनका क्या होगा और ये कल्याणकारी व्याकुलता भी हुई कि तामस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही तात कब हम ही ना था करी नहीं कृपा भानु कुल ना था तब आश्वासन के अंतर धुनी अवतरित हुई सुन साधक यह प्रभु कह रीति कर सदा सेवक पर प्रीति I'm not साधना पथ का परिवर्तन कहा हुआ